आप कह दें अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं